श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन नौ मार्च अठारह नरेंद्र का तीव्र वैराग्य गृहस्थाश्रम दूसरे दिन सोमवार है 9 मई अठारह सवेरे मास्टर मठ के बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं मास्टर सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण ने मठ के भाइयों का काम कांचन छुड़ा दिया आहा ईश्वर के लिए ये लोग व्याकुल हो रहे हैं यह स्थान मानो साक्षात वैकुंठ है मठ के भाई मानो साक्षात नारायण हैं श्री रामकृष्ण को गए अभी अधिक दिन नहीं हुए इसलिए वे सब भाव अब भी ज्यों के त्यों बने हैं अयोध्या तो वही है परंतु राम नहीं है इनसे तो उन्होंने श्री रामकृष्ण ने गृह त्याग करा लिया फिर कुछ और जो हैं उन्हें ही क्यों घर में रखा है उनके लिए क्या कोई उपाय नहीं है नरेंद्र ऊपर के कमरे से देख रहे हैं मास्टर अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं उतर कर हंसते हुए कह रहे हैं क्यों मास्टर महाशय क्या हो रहा है कुछ बातें हो जाने पर मास्टर ने कहा आहा तुम्हारा स्वर बड़ा मधुर है कोई श्लोक कहो नरेंद्र स्वर से अपराध भंजन स्तव कहने लगे गृहस्थगण ईश्वर को भूले हुए हैं बाल्य प्रौढ़ और वार्धक्य तक वे न जाने कितने अपराध करते हैं क्यों वे मनसा वाचा और कर्मणा ईश्वर की सेवा नहीं करते बाल्ये दुखातिरे को मललुलित पपु सन्यपाने पिपाशा नो सक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति परवश शङ्करं न भी क्षंतभ्यो मे पराध शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विषधरैर्पञ्चभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवती निषण निषण्णः चिंता विहीन मम महो मानगर्वाधिरूढं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो वार्धक्ये विगत विगतगतिमतेश्चाधिदैवादितापैः पापैरोगैर्वियोर्गस्त्वनवसत् वपुप्रौढिहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषे भ्रमति मम मनो धुर्जटिर्ध्यानशून्यं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिं विधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोऽयं पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहनात् खण्डबिल्वीदलानि नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गंधधूप तदर्थं क्षन्तव्यो मे पराध शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो गात्रम भस्मसितं शितं च हस्ते कपालं सितं खट्वाङ्गं चित सितं सितश्च वृषभकर्णे सिते गंगा फेन सिता जटा पशुपते सितो मूर्धनी सोयम सर्वसितो ददाति पाप क्षय सर्वदा स्तव पाठ हो गया फिर बातचीत होने लगी नरेंद्र निर्लिप्त संसार कहिए या चाहे जो कहिए काम कांचन का त्याग बिना किए न होगा स्त्री के साथ सहवास करते हुए घृणा नहीं होती जहाँ कृमि कफ मेध दुर्गंध अमेध्यपूर्णे कृमिजाल संकुल सवाव दुर्गंधि विनिंदितांतरे कलेवरे मूत्र परी स्वभावित रमंति मूढ़ा विरमंति पंडिता वेदांत वाक्यों में जो रमण नहीं करता रस का जो पान नहीं करता उसका जीवन ही बिथा है ओंकार मूलम परमम पदांतरम गायत्री सावित्री सुभाषितांतरम वेदांतरम यह पुरुषो न सेवते वृथांतरम तस्य नरस्य जीवनम एक गाना सुनिए भावार्थ मोह और कुमंत्रणा को छोड़ो उन्हें जानो तब संपूर्ण कष्ट छूट जाएंगे चार दिन के सुख के लिए अपने जीवन सखा को भूल गए यह कैसा